ये सब आज बोलना और मानना बदल गया क्योंकि आज हकीकत में आप शुद्धात्मा हो गए सब समझ गए ये दो दृष्टि से व्यवहार चलाना जैसे बताया पंखी पंछी दो पंख से उड़ता है तो कैसी कितनी आसानी से उड़ लेता है नदी दो किनारे बहती है तो कितनी आसानी से बह लेती है उसको कोई दिक्कत नहीं होती कोई कठिन कठिनाई नहीं आती तो ये दो दृष्टि का व्यवहार आज से शुरू हुआ क्योंकि आपने शुद्धात्मा दृष्टि पाई शुद्धात्मा दृष्टि वही दिव्य दृष्टि है जिस दिव्य दृष्टि से हम सभी में दिव्यता का दर्शन करेंगे शुद्धात्मा का दर्शन वही दिव्य दर्शन है भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते थे भगवान के दर्शन करने के लिए हम मंदिर जाते थे अब आपको वही भगवान के दर्शन आपके खुद में हो गए हैं तो कहा अभी आपके खुद में तो हो गए अब दूसरों में करते जाइए दूसरों में करते जाइए जो पहले बोलते थे उनका परिचय दो ये दो दृष्टि से उनका परिचय दो उनका परिचय दो व्यवहार दृष्टि से निश्चय दृष्टि से अभी व्यवहार दृष्टि से नाम तो हमारे लिए है ना आपके लिए नाम से ज़्यादा कोई संबंध है नहीं है हाँ तो व्यवहार दृष्टि से धर्म पत्नी है ठीक है कभी भी उनको निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है करके देखा था अगर ये दृष्टि है ही नहीं हमारी आंखें नहीं खुली तो हम देखेंगे कैसे लेकिन आज से ये दर्शन होगा तो बोले आज से ये अभी प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करना किसके लिए है और क्यों करना पड़ता है प्रैक्टिस क्योंकि कृपा से मिला है हमारी मेहनत से नहीं मिला है हम तो आके यहाँ बैठे एक घंटे पहले क्या थे इसलिए पूछा एक घंटे पहले आप कौन थे बोले मैं आनंद था और एक घंटे के बाद क्या हो गए मैं शुद्धात्मा हूँ एक घंटे में क्या कर दिया जादू कोई जादू नहीं है ये हमारे पाप कर्म भस्मीभूत होते हैं भ्रांति के कर्म भस्मीभूत होते हैं जिसके कारण हमें यह लक्ष्य बैठता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ अब ये लक्ष्य जाएगा नहीं लेकिन हमारा किया हुआ कर्म जो है वो हमने दादाजी को पूछ के यानी ज्ञानी पुरुष को पूछ के नहीं किया था और उसको ज्ञानी पुरुष हाथ नहीं लगा सकते लेकिन ये भ्रांति के कर्म हैं वो अंदर ही पड़े रहते हैं और वो उनको जला सकते हैं मिटा सकते हैं भस्मीभूत कर सकते हैं और वह होने के कारण यह प्राप्त हुआ है तो ये कृपा से प्राप्त हुआ है इसीलिए ये थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है तो ये दो दृष्टि से आप दर्शन करेंगे घर पर ही ठीक है आप अपना बताइए व्यवहार दृष्टि से मैं निश्चय दृष्टि से मैं इनका परिचय दे दीजिए पहले पति थे अभी नहीं है नहीं व्यवहार दृष्टि पहले तो मेरे पति देव ही है करके मानते थे अब ये व्यवहार दृष्टि की पहचान जो सही पहचान है वह हो गई और निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है पति देव बोलते हैं बच्चे हैं वो कौन सी दृष्टि से निश्चय दृष्टि से कि व्यवहार दृष्टि से बच्चे सही है व्यवहार दृष्टि से सास ससुर व्यवहार दृष्टि से माता पिता ऐसा है वो मच्छर कौन सी दृष्टि से व्यवहार दृष्टि से मच्छर है निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है वो काटता है फिर भी वो शुद्धात्मा है वो काटेगा फिर भी शुद्धात्मा है ना लेकिन वो काटता क्यों है नहीं स्वभाव नहीं है क्योंकि हम भी लोगों का किसी का खून नहीं पीते हैं इसीलिए वो पीता है वो ऐसे ही नहीं काटता है सबको नहीं काटता है लेकिन ये ये दो दृष्टि का व्यवहार से मच्छर में भी शुद्धात्मा देखेंगे तो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ये दृष्टि आपको नहीं करवाएगी ये शुद्धात्मा दृष्टि वही अहिंसक दृष्टि है मानना कि मैं आनंद हूँ वही सबसे बड़ी हिंसा है फिर जो भी करो वो आधार हिंसा का ही है और आज ये दृष्टि पाने से दृष्टि में अहिंसा आ गई तो ये अहिंसा फैलाती जाएगी ये दो दृष्टि से हम सबको देखेंगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे करने के लिए मंदिर जाते थे देरासर जाते थे वगैरह लेकिन आज घर पर ही दर्शन करेंगे वो आज तक हमने किया नहीं ठीक है तो ये दो दृष्टि के व्यवहार से आपका जीवन व्यवहार बहुत अच्छी तरह से चला जाएगा जैसे कि एक भाई साहब थे वो उनका लड़की की शादी का तय करने के लिए पंडित जी के घर जाने के लिए सुबह में स्नान करके निकले और रास्ते में उनको गधा दिखाई दिया तो वो वापस आ गए घर पर वो तो क्यों वापस आ गए सुकन बराबर नहीं हुआ वो गधे में तो शुद्धात्मा नहीं है ना सिर्फ हमारे में ही है पहले कभी गधे में कोई शुद्धात्मा दिखता है लेकिन जिनको दृष्टि मिली वह देखेंगे और शुद्धात्मा देखने पर गधे के लिए अच्छे बुरे भाव होंगे नहीं होंगे लेकिन वो चाचा को हुआ वो वापस आ गए बोले क्यों अरे रास्ते में गधा मिल गया वो गधे के अंदर भगवान तो है भगवान वीतराग है भगवान को कोई पक्षपात नहीं है तो वे भगवान क्या बोलते हैं ज्ञानी पुरुष से मेरी अच्छी सी पहचान कर लेनी थी ना कि मैं हकीकत में कौन हूँ मेरे कपड़े को देख के क्यों ऐसे भाव किए लेकिन जानते नहीं है तो अब आपको शुकन अब शकन लगेगा नहीं काली बिल्ली जाए देने से बाहे जाए या बाहें से देने जाए आपको शकन अब शकन अभी छुएगा नहीं बोलो अभी शुद्धात्मा भगवान के दर्शन कहाँ कहाँ करेंगे कहाँ कहाँ करेंगे इसमें भी करेंगे ना इसमें भी करेंगे ना क्यों नहीं क्यों नहीं ये लकड़े का है तो उसमें नहीं करेंगे क्यों नहीं यानी जो कुदरत में है कुदरती है जिनमें भगवान है उधर ही दर्शन करने हैं यह विवेक बताया अभी जल्दीबाजी नहीं करना जाने की जल्दी नहीं करना माजी जा रही है लेकिन ये समझे बगैर तकलीफ़ हो जाएगी फिर थोड़ा आधा घंटा रुक जाइए हम्म, जल्दी नहीं करिए बैठ जाइए थोड़ी देर दूसरे जो चले गए उनको देख के आप भी चले जाएंगी तो वो तो उनका नुकसान करेंगे आप अपना भी नुकसान करेंगे ये दो दृष्टि का व्यवहार होने से हम सही मायने में निष्पक्षपाती हुए हैं वो तो सभी के जीवन में दुश्मन तो होते हैं ना दोस्त तो होते ही है लेकिन जो अच्छे नहीं लगते ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि नहीं अरे बोल दो ना सच्ची बात तो हाँ होते हैं ना लेकिन उनमें शुद्धात्मा भगवान नहीं होते होते हैं दुश्मन में होते हैं अभी देखो दुश्मन में शुद्धात्मा दृष्टि से देखेंगे तो हमारे दुश्मन के प्रति जो ऐसा भाव है ना वो रहेगा नहीं और आप सोचिए कि ऐसे दुश्मनावट वाला भाव से हम मोक्ष में जा सकते हैं नहीं जा सकते तो ये दृष्टि से अब वह दुश्मनावट वाला भाव भी चले जाएगा अभी हमें पता चलेगा कि वे क्यों ऐसा करते हैं कोई हमारे साथ अच्छा भी करते हैं तो क्यों करते हैं कोई अगर बुरा भी करते वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी अभी इधर ध्यान दो टीचर पढ़ाते तब कहीं और ध्यान चले गया तो क्या पढ़ाया ऊपर से चले जाएगा ऐसा है आधा घंटा ही ध्यान रखना है अभी ये दो दृष्टि का व्यवहार शुरू हुआ हम निष्पक्षपाती हुए जो निष्पक्षपाती है उनकी मुक्ति होती है वे मोक्ष में जाते हैं जो निष्पक्षपाती नहीं है वो भटकते रहते हैं कौन सी दृष्टि से हिंदू कौन सी दृष्टि से जैन कौन सी दृष्टि से मुस्लिम व्यवहार दृष्टि से सभी में शुद्धात्मा के दर्शन होते जाएंगे और सही मायने में निष्पक्षपाती होते जाएंगे कर दिया है लेकिन हम होंगे हमारा व्यवहार निष्पक्षपाती है ऐसा दिखाई देगा हम बोलेंगे लेकिन अगर हमारे में दिखाएगा दिखेगा नहीं तो कोई मानेगा नहीं मानेंगे तो ये दो दृष्टि से सब हमारा काम हो जाएगा निष्पक्षपाती हुए सभी में दर्शन करेंगे व्यवहार दृष्टि से गाय निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा वो तुलसी में होता है व्यवहार दृष्टि से तुलसी है निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है चाय में डालना है तो डालिए लेकिन शुद्धात्मा दृष्टि को देख के करिए अभी जबकि आप बच्चे तो होते हैं ना छोटे मोटे वो सब बच्चे अपना सुनते हैं माँ बाप का सुनते हैं जो बोलेंगे सच बोलना नहीं सुनते अभी नहीं सुनेंगे तो थोड़ा डांटना पड़ता है कि नहीं अभी तो बड़े भी नहीं सुनते छोटे तो नहीं सुनते समझते बड़े भी नहीं सुनते डांटेंगे ना तो पहले क्या करते थे सीधा डांट लेते थे अब शुद्धात्मा दृष्टि से देख कर डांटेंगे तो वह डांटना भी सही होगा अभी दिमाग आपका हिलेगा नहीं जो होगा वो ड्रामा से होगा नाटक से करते हैं ऐसा होगा और शुद्धात्मा देख के करेंगे तो कुछ उसको असर अच्छी होगी समझ गए यानी ऐसा कुछ बोलना पड़ता है कहना पड़ता है करना पड़ता है तो ऐसा अंदर से थोड़ी प्रार्थना कर लेनी है शुद्धात्मा भगवान ज़रा दो मिनट बाहर बैठिए हमको ये ज़रा डांटना पड़ेगा क्योंकि ये ये जो पैकिंग है बाहर जो दिखाई देता है चमड़े की आंखों से वो पैकिंग है और अंदर की आंखों से जो दिखाई देता है वह शुद्धात्मा भगवान है शुद्धात्मा भगवान वही सही भगवान है चेतन स्वरूप भगवान ठीक है ये दो आज्ञा सारे अच्छे समय में दो आज्ञा ही दी जाती थी और उसी में सब लोग समझ जाते थे लेकिन आज दो आज्ञा में समझते नहीं है तो थोड़ा इसका विस्तार कर दिया गया और और तीन जोड़ दी गई है और तीन जोड़ दी गई है वो तीसरी आज्ञा क्या है आप शुद्धात्मा हो गए शुद्धात्मा को आज्ञा की जरूरत है शुद्धात्मा तो प्रकाश समान है स्वतंत्र है उनको कोई अवलंबन की जरूरत नहीं है तो आज्ञा किसको दी जाती है आनंद को पुष्पा को नामधारी को ये आज्ञा की जरूरत है आप समझिए तो आप शुद्धात्मा के प्रकाश से ये नामधारी को देखते रहेंगे समझ गए कि ये दो दृष्टि से देखते हैं कि नहीं देखते हैं अभी किसी आपको उनको बोलना की ज़रूरत नहीं है कि आप शुद्धात्मा दृष्टि से देखते नहीं है आपको इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप शुद्धात्मा दृष्टि से देखते नहीं है खुद को देखना है ठीक है तो ये तीसरी आज्ञा ये बताती है कि आप शुद्धात्मा है तो स्वतंत्र है ये नामधारी को कौन चलाता है शुद्धात्मा को चलाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है प्रकाश को किसी अवलंबन की ज़रूरत नहीं है तो ये को तो कौन चलाता है जब अच्छा करते हैं अच्छा होता है तो मैंने किया और जब कुछ बिगड़ जाता है तो किसने किया वो उन्होंने किया उन्होंने किया ऐसे ही बोल देते हैं मुझे क्या मालूम अगर कोई दिखाई नहीं देते तो बोले भगवान ने किया वो भगवान पर डालते हैं कि नहीं मेरा एक ही लड़का था वो भगवान लेके गए लोग बोलते हैं कि नहीं बोलो ना लेकिन हकीकत क्या है वो आज दादाजी हमें देते हैं कि आप शुद्धात्मा हो गए तो ये नामधारी का जो व्यवहार है वो कौन चलाता है तो बोला बोले कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति बोलिए तीसरी आ गया जगत नियंता यानी चलाने वाला व्यवस्थित शक्ति है बोलिए जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति बोलिए जगत किसको कहेंगे ये बाहर दिखाई देता है वह अभी सोचिए कि आनंद नहीं है एक धारणा कीजिए तो जगत कहाँ है बताइए मुझे जगत कहीं पर है जगत आनंद नहीं है तो जगत नहीं है पुष्पा नहीं है तो जगत नहीं है पुष्पा है तो जगत है आनंद है तो जगत है आपके लिए आपकी बात है हमारी बात है ना जगत तो हमें ही परेशान करता है यानी हकीकत में हमारी ये मन वाणी काया जो है वही जगत है जो जन्म पाया है और बहता हुआ चले जाता है वही जगत है और उस जगत को व्यवस्थित नाम की शक्ति जो कुदरत की संचालक शक्ति है वह चलाती है वो बोले कि क्यों चलाती है वो जैसे वो चाचा जी बाहर आए और गधे के बारे में ऐसा खराब भाव किए तो वो भाव कहाँ जाएंगे भीतर के भगवान तो वितराग है भगवान तो कुछ स्वीकार नहीं करते तो यह जो भाव हमारे ही भाव अज्ञानता में वो कुदरत में जाते हैं और कुदरत ये जो व्यक्ति होते हैं जो सब व्यक्ति है वो व्यक्ति है वो सभी व्यक्ति का एक जगत है व्यष्टि और ये समग्र जो है वो समष्टि बोलते हैं समग्र जो पूरा जगत है बाहर का वो समष्टि है यानी समष्टि नाम जैसा एक ये सब इंडिविजुअल व्यक्तिगत कंप्यूटर है और वो बड़ा सा कंप्यूटर है तो यहाँ से भाव वहाँ जाता है जैसे वो चाचे ने भाव किया ना गधे के लिए तो वो भाव वहाँ जाता है और वहाँ से फिर वो जब परिणाम आता है तब वो व्यवस्थित होता है यानी हमारे अच्छे भाव या बुरे भाव ऐसे ही जाते नहीं है बुरे भाव के फल भी हमारे पर ही आता है अच्छे भाव के फल भी हमारे पर ही आता है इसीलिए दादाजी ने कहा हम ही हमारे लिए जिम्मेदार है हमें कोई परेशान भी नहीं करता हमें कोई मदद भी नहीं करता हमारे कर्म ही हमारे भाव ही हमें फल देते रहते हैं ठीक है तो ये व्यवस्थित शक्ति ये कुदरत की व्यवस्था है जो ये जगत को चलाती रहती है आप समझे अज्ञानता में हम क्या कुछ नहीं कर बैठते और उसका फल हमें भुगतना पड़ता है इसके कारण हमें भुगतान आता है फिर वो सुख का हो या दुख का हो यानी ये व्यवस्थित नाम की शक्ति आनंद जी को चलाएगी पुष्पा जी को चलाएगी उसी तरह वो सबको चलाती है लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं चलाती हमारे जो अज्ञानता में पिछले जन्म में जो सब भाव हुए थे वो भाव के अनुसार हमें संजोग इकट्ठा करवा देती है आप समझे ऐसे ही कुछ बनता नहीं है इसीलिए देखो सभी के जीवन में जो बनता है वो एक सरीका कभी नहीं बनता एक सरीका कभी नहीं बनता कोई भी दो व्यक्ति एक सरीके दिखते नहीं है वो जुड़वे होते ना फिर भी वो 80 परसेंट अस्सी प्रतिशत एक सरीके दिखते हैं लेकिन होते ही नहीं है क्योंकि दोनों की जगह है ना वो अलग है इसीलिए दोनों का मन अलग रहने ही वाला है ठीक है तो ये व्यवस्थित नाम की शक्ति जो दादाजी ने भी यही आ गया दादा भगवान से मिली थी उनको और यह आज्ञा धर्म के अनुसार रह रह कर आज इतने पक्के और स्थिर हो गए कि आज हमें वे आज्ञा दे सकते हैं इसीलिए यह व्यवस्थित शक्ति चलाती है ये बाहर बोलने के लिए नहीं दिया है हमें जैसे कि अगर कुछ बच्चे से हो जाता है तो आप ऐसा नहीं बोलना बच्चा फिक्र मत करो वो व्यवस्थित शक्ति ने किया ठीक है आप जो भी कारण से उसको बताएंगे वो उसका कैसे उपयोग या दुरुपयोग करे पता नहीं है कल उसको गुस्सा आ गया और अपनी किताब फाड़ दी और बोलेगा आप बोले ये क्या कर दिया पिताजी वो व्यवस्थित है आप क्या जवाब देंगे समझ गए ये व्यवस्थित बोलने के लिए नहीं है समझने के लिए उसका एक उदाहरण लेते हैं घर पर मेहमान आए तो आपने वो घर में जो बहन जी है उसको बताया कि पानी लेके आओ वो बोले अच्छे से ग्लास है ना वो इतने वो बोले मोंगेरे मेहमान क्या बोलते हैं ऐसा बोलते हैं ना जो ख़ास मेहमान होते हैं उनके लिए वो ख़ास कांच के गिलास में पानी लेके आना तो लेके आ रही थी रास्ते में वो बच्चों ने खिलौना रखा था वो उसका ध्यान नहीं गया और ट्रे हाथ में से फिसलती फिसलती बहुत कोशिश की आखिर में गिर गई और वो पांच ग्लास टूट गए किसने तोड़े आज के ये ज्ञान से हमें क्या पता चलता है किसने तोड़े इतना टाइम लगता है जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति व्यवस्थित शक्ति ने तोड़ा अभी जब व्यवस्थित शक्ति ने तोड़ा तो हम वो बच्ची पर के उस पर गर्म गुस्सा करेंगे नहीं करेंगे अगर आपने ऐसा अनजाने में भी कह दिया कोई कोई फिक्र नहीं है वो तो व्यवती शक्ति ने तोड़ा है तो कल अपनी बच्ची को ऐसे ही फेंक देगी धक्का मारेगी बोले ऐसा धक्का क्यों मारती है वो व्यवस्थित नहीं किया बोलने की ज़रूरत नहीं है समझने की ज़रूरत जिससे हमारा दिमाग शांत रहता है क्यों अभी क्योंकि ये व्यवस्थित क्यों तोड़ा व्यवस्थित ने ग्लास को क्यों तोड़ा प्रश्न तो उठेगा ना तो बोले व्यवस्थित को वो कांच वाले का भी चलाना है कि नहीं वरना हमें हमने जो ये एक दो डजन लाए अच्छे वो कितने बरसों तक नहीं वो एक दो जनरेशन तक चलाएंगे अब वो नई नए खरीदेंगे भी नहीं तो वो कांच वाले का कैसे चलेगा ये कपड़ा तो नया लाएंगे ही नहीं ना हम अगर ये कपड़ा लाएंगे नहीं नया तो ये टेक्सटाइल वाले का चलेगा कैसे तो ये व्यवस्थित का काम क्या है सप्लाई भी करने का और तोड़फोड़ भी करने का समझ गए और सबसे बड़ी बात क्या है आप शुद्धात्मा हो गए आपकी मुक्ति नहीं होती तब तक ये व्यवस्थित शक्ति आपका चला लेगी आपका काम क्या है देखभाल रखो बच्चे हैं कितने बड़े हैं वो बारह साल का बच्चा नौ साल की आपने बड़े किए हम तो बोलते हमने बड़े किए अभी हकीकत में पता चलता है कि ये व्यवस्थित शक्ति उनको बड़ा करती है हम भी इतने बड़े हुए तो कैसे हो गए तो हम्म? अभी अभी वन मिनट ये व्यवस्थित नाम की शक्ति चलाती है तो ये व्यवस्थित बोलने के लिए नहीं है अंदर समझने के लिए है ताकि हमारा मन जो ऊंचा नीचा होता रहता है जीवन की परिस्थितियों में वैसा नहीं होगा और जब वैसा नहीं होगा तो हम सामने वाले में शुद्धात्मा देख पाएंगे क्योंकि ये क्रिया वाला जगत है वो क्रिया वाले जगत में शुद्धात्मा देखना बहुत मुश्किल हो जाता है इसीलिए कहा कि ये शुद्धात्मा दृष्टि को ये व्यवहार में अगर हम आएंगे तो है ही व्यवहार में तो कैसे टिक पाएगी दृष्टि तो ये व्यवस्थित का ज्ञान जो क्रिया यानी संजोग का विज्ञान है ये खुला किया दादाजी ने ये बोला नहीं जाता वो अच्छे समय में वो दो ही आज्ञा में वो ये समझ जाते थे लेकिन यहाँ इसका समाधान दिया जाता है स्पष्ट किया जाता है कि ये व्यवस्थित नाम की शक्ति चलाती है आप चिंता नहीं करना इसके कारण आपको चिंता रहेगी नहीं आप शुद्धात्मा हो गए एक भी चिंता हुई तो बोले दादाजी के पास आके वो दावा करना इतने सालों में पचास साल में तो कोई आए नहीं दावा करने के लिए कि आपने कहा था चिंता नहीं होगी फिर भी मुझे चिंता हुई नहीं ये व्यवस्थित का ज्ञान ही ऐसा है कि एक चिंता होगी नहीं इसीलिए भीतर शांति रहेगी आनंद हकीकत में बढ़ता जाएगा अभी नाम आनंद रख के भी कई बार अंदर से हिल नहीं जाता था अभी ये दृष्टि से नहीं हिलेगा तो एक तरफ अगर हमें ये व्यवस्थित पूरी तरह से समझ में आ जाता है तो बोला केवल ज्ञान हो जाएगा पूर्णता आप हो जाएंगे परमात्मा इसीलिए इसकी शुरुआत कैसे करते हैं तो जहाँ नज़र पड़े वहाँ भगवान के दर्शन कर दो शुद्धात्मा दृष्टि से देखेंगे तो आप होंगे परमात्मा और अगर बहनोई को देखेंगे तो आप क्या होंगे बहनोई करके देखेंगे तो आप क्या होंगे हाँ बहनोई दिखेंगे तो आप कौन होते हैं उनके बहनोई के हाँ तो साले होना पड़ता है अभी शुद्धात्मा देखेंगे तो परमात्मा होंगे आपको क्या करना है आप समझ गए शुद्धात्मा देखेंगे तो परमात्मा होंगे बहनोई को देखेंगे तो साले होना पड़ेगा तो क्या करना है समझ गए यानी शुद्धात्मा देखते जाओ परमात्मा होते जाएंगे ठीक है तो ये व्यवस्थित नाम की शक्ति है तो कोई भी कुछ भी करेगा तो अंदर से तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि ये व्यवस्थित नाम की और हमें ये आज्ञा दी है हमारी समझ में अभी आया नहीं है तो देखते जाएंगे मानते जाएंगे अभी आज्ञा का आधार रखेंगे जैसे दादाजी ने आज्ञा का आधार रख रख कर उनको पूरा समाधान हो गया और ऐसी स्थिति आ गई कि आज हमें भी यह ज्ञान मिल जाता है और यही वरना तो दादा भगवान अठासी अठासी के साल में उनका देह विलय हुआ था तो ये ज्ञान का अंत ही हो गया था लेकिन वे ऐसे स्थिरता पाए थे तो आज हमें इतना लाभ हो गया ये तीसरी आज्ञा हो गई समझ गए पहली आज्ञा व्यवहार दृष्टि से मैं नामधारी हूँ निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूँ जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति चौथी आज्ञा अब बोले कि आपके आपका कितने लोगों से लेना देना है अभी ये सारे विश्व की आबादी तो सात अबज से ऊपर हो गई क्या सात अबज से आपको कुछ लेना देना है आपको किसे लेना देना है घर में जो तीन चार पाँच है अड़ोस पड़ोस वाले सगे वाले वगैरह परिचय वाले तो बोले पाँच दस हज़ार ही होते हैं लेकिन इन लोगों के साथ हम क्या करते थे वो समझते हैं अगर वो हमें सुख देने आते हैं तो हम खुश रहते थे उनको सुख देते थे अगर वे दुख देते हैं तो क्या करते थे बोलो ना हम भी अगर बाहर नहीं दे सकते हैं तो मन से दे देते थे ऐसे भाव बिगाड़ते थे ठीक है अभी कोई झगड़ते आए या सुख देने आए दोनों का हमें ये आज्ञा चौथी आज्ञा क्या बताती है कि ये जो लेन देन वाले जो हैं हमारे कर्म के लेन देन वाले उनके साथ हम ऐसा करते थे उसे राग द्वेष बोलते थे जो अच्छा करते उनके पर राग करते थे जो बुरा करते थे उनको पर द्वेष करते थे जिससे ये अच्छे बुरे भाव से वो समष्टि में हमारे भाव जाते थे नए कर्म बनते रहते थे अब क्या करना है तो ये लेन देन वाले को दादाजी ने फाइल बताई जैसे हम वो अलग अलग फाइल रखते हैं ना ये बच्चों की फाइल होती है टेंथ स्टैंडर्ड की फाइल इलेवन स्टैंडर्ड की फाइल उससे सब रिजल्ट वगैरह होते हैं तो ये फाइलों का क्या करना है चौथी आज्ञा क्या बताती है ये लेन देन वाले का सम भाव से निपटारा करे फाइलों का सम भाव से निपटारा करे वह चौथी आज्ञा दादाजी हमें देते हैं ये फाइल यानी अभी कर्म के हिसाब जो किए हैं उसके फल तो आज आएंगे ना तो क्या करेंगे हम मुझे ये सभी फाइलों का सम भाव से निपटारा करना है ऐसा हमें तय करना है सम भाव से राग भी नहीं करते और द्वेष भी नहीं करते लेकिन किसी भी तरह से समाधान हो ऐसे हम रहना का तय करते हैं करना नहीं है तय करना ये सारी आज्ञा में कोई क्रिया नहीं है समझना है और उस समझदारी से देखना है तो वही देखेंगे तो हमारी समझ पक्की होती जाएगी और पूर्ण समझ वही केवल ज्ञान है पूर्ण समझ वही परमात्मा पद है तो ये सभी अभी क्या आप शुद्धात्मा हो गए और ये नामधारी जो है आनंद वैसे पुष्पा जी तो ये लोगों की जो लेन देन बाकी है उतना ही काम बाकी है जैसे बताया ना कि सात से ज़्यादा अबज लोग हैं उनके साथ हमें कोई लेना देना नहीं उनके साथ सब लोगों के साथ तो हम वितराग ही है अगर किसी की बात सुनने में आती कि ऐसा हो गया होता है क्या करेंगे लेकिन अभी पता चला कि वो उसमें वो मेरे रिश्ते वाले थे कौन थे अरे जानकारी लो जरा भी क्या हो गया जान लो पहले ऐसा होता है ना और कितने लोग उधर गुजर गए नेपाल में कोई फ़ोन नहीं किया कौन गुजर गए कितने चले गए समझ गए क्योंकि वहाँ हमारा कोई राग द्वेष नहीं है लेना देना नहीं है तो इतने मुट्ठी भर लोगों के कारण हम जानते नहीं कि उनके साथ क्या करना है और राग द्वेष कर बैठते थे एक तरफ व्यवस्थित शक्ति कर्म का फल देता है और पीछे हम नए कर्म जोड़ देते थे आज यह व्यवस्थित शक्ति की आज्ञा समझ के रहेंगे तो नए क्रम बनेंगे नहीं और चौथी आ गया मुझे फाइल का संभव से निपटारा करना है तो आगे कोई क्रम बनेगा नहीं नए क्रम बनते नहीं है पुराने क्रम का हिसाब आ जाता है उसका हम संभव से निपटारा करते हैं यानी राग भी नहीं करते द्वेष भी नहीं करते उस क्रम में से छूट जाता है इसीलिए कहा कि यह ज्ञान से आपको जो ग्रहण करने का था स्वरूप वो ग्रहण ज्ञानी पुरुष ने दादाजी ने करवा दिया जो त्याग करने का था क्या त्याग करने का था जो मैं नहीं हूँ आनंद में नहीं हूँ नामधारी में नहीं हूँ उस शुरुआत में बताया ना कि मैं कौन नहीं हूँ वह ज्ञान जानना ज़रूरी है वो आज हमने जान लिया तो त्याग हो गया अभी ये जो बाकी का कर्म का हिसाब बाकी है उसका संभव से निपटारा करने में सहज में त्याग हो जाएगा करना नहीं पड़ेगा तो कहा ये त्याग ग्रहण का झगड़ा मिट गया अभी ये इधर रखूँ इतना रखूँ और इतना छोड़ देना है वो ग्रहण त्याग करने का झगड़ा रहा ही नहीं नहीं तो ये बहुत बड़ा झगड़ा है किसको रखूँ किसको निकाल दूँ ये रहा नहीं संभव से निपटारा करने पर सभी लेन देन वाले का हिसाब समाधान पूर्वक हो जाएगा तो हम हो जाएंगे परमात्मा क्योंकि अगर आज कुछ काम करते हैं तो बच्चे आके बोलते ना पापा मम्मी किसी का फ़ोन तो आता है कि नहीं आता है वो किसका फ़ोन आता है लेन देन वाले का ही फ़ोन आता है वो जिनको हमें अच्छा लगता है उनका फ़ोन आता है तो नहीं नहीं थोड़ी और बात करो ना और जो अच्छे नहीं लगते हैं उनका फ़ोन आ जाता है तो जल्दी बंद करो जल्दी बंद करो ये टाइम नहीं है मेरे पास ठीक है अभी दोनों का संभव से निपटारा करना है यानी दोनों के साथ ऐसे रहेंगे कि झगड़ा मिट जाए वो जो सुख वाला है वो मीठा झगड़ा है और ये जो दुख वाला है वो कड़वा झगड़ा है वो दोनों का संभव से निपटारा कर देने से समाधान हो जाने से अब हमारा कोई लेना देना रहा नहीं वो जैसे दूसरों के लिए हमें कोई राग द्वेष नहीं होते ऐसा हो जाएगा जब सभी से हो गया सब फाइलों का संभव से निपटारा हो गया हमारी गवर्नमेंट पूरी अभी ये ज्ञान मिलने से शुद्धात्मा की गवर्नमेंट शुरू हो गई सही लेकिन पूरी नहीं हुई क्योंकि अभी फाइल है तो उसका संभव से निपटारा करने को आपको जाना पड़ेगा अगर आप ऐसे ध्यान में बैठे हैं और किसी का फ़ोन आ गया तो अगर आप उठाएंगे नहीं तो बोले तीन बार फ़ोन किया आपने उठाया क्यों नहीं ये लेन देन वाले अपेक्षा रखते हैं हम ऐसा नहीं कह सकते और वो अपेक्षा को हमें मानना पड़ता है क्योंकि वो लेन देन वाले हैं ठीक है तो ये सभी फाइल का संभव से निपटारा कर लेना तो हमारा काम हो जाता है अभी थोड़ी समझ लेते हैं ये पहले नंबर की फाइल यानी सबसे अगत्य इम्पोर्टेंट फाइल कौन सी आपके घर में पांच लोग हैं दो बच्चे हैं ना तो चार है माँ बाप को हम अभी थोड़ा छः लोग हैं चलो यानी सास ससुर से हम लेते हैं तो छः में नंबर वन कौन जल्दी बोलिए हाँ पप्पा जी चलो पप्पा जी को आपने नंबर वन कहा अभी ऐसा है ना आपका सिर दर्द कर रहा है आपने गोली खा ली सबको बोल दिया कि मुझे दो घंटे के लिए परेशान नहीं करना ठीक है सब लोग समझ लेते कि चलो आनंद जी आज कुछ ऑफिस में कुछ हो गया होगा तो आज थोड़े परेशान है उनको परेशान नहीं करना दो घंटे उनको आराम करने दो तो दो घंटे के बाद देखेंगे लेकिन आप ये आनंद जी का सर है जो दुख रहा उसको कहाँ रखेंगे कहीं और करके रख देंगे ऊपर अलमारी पर ठीक है तो हमारे मन वाणी काया नामधारी जो है ये आनंद हमारी पहली फाइल है फाइल नंबर वन उसी तरह से पुष्पा जी आपके फाइल नंबर वन आपके लिए फाइल नंबर टू वे आपके लिए फाइल नंबर टू ये यानी पति देव बच्चे तीन चार माँ बाप पाँच छः वगैरह समझ लेना है ये घर के एक दो तीन चार और एक सबसे महत्व की फाइल है क्योंकि एक के आधार पर सभी खड़ी है जल्दी नहीं करना हाँ, हाँ। एक के आधार पर सभी खड़ी है यानी हकीकत में हम फाइल नंबर वन का ही संभव से निपटारा करते हैं और दूसरे जो दो तीन चार पाँच जो है वो आनंद जी के एक्सटेंशन है वो कंपनी में एक्सटेंशन फ़ोन नंबर होता है ना एक्सटेंशन करके देते हैं ये सब आपके एक्सटेंशन जो हमारे लेन देन वाले जो है वो हम ही है वो हमारा एक्सटेंशन है यदि ये समझ लेते हैं तो बगैर लेन देन के कोई आते नहीं है और हम जितने बाहर गए हैं हम वही आते हैं हमारे पास समाधान के लिए तो हमें हमसे ही समझना है समझ गए तो ये चौथी फाइल जब सभी फाइल का संभव से निपटारा हो जाता है हमारा काम पूरा एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं अभी काफ़ी कोई झगड़ा होता है अभी एक कोई झगड़ा ऐसा हो गया था जो कोर्ट में चले गया था और उसकी आपको बहुत वो झंझट रहती है क्योंकि कोई भी केस कोर्ट में जाता ना उसका समाधान जल्दी से होता नहीं है तो आपको ये ख्याल में आता कि ये फाइल एक ज़रा बड़ी है थोड़ी नाजुक फाइल है जो सीधे से काम हो ही नहीं रहा लेकिन हमें ये आज्ञा से हमें प्रयोग में रख दिया आज्ञा बड़ा प्रयोग है छूटने का कर्म मुक्ति का प्रयोग है तो ये प्रयोग हमें सिखा दिया दादाजी ने क्या कहा कोई भी आए उनको ये दो दृष्टि से देखो अभी ये जो हमारा ये जिनके साथ थोड़ा झगड़ा था और वो मैटर कोर्ट में गई तो आप समझ गए लेकिन वो जब तक वो फाइल आती नहीं है तो हमारे ध्यान में आता नहीं है तो सुबह में तैयार होकर बैठे थे और एकदम से वकील साहब का फ़ोन आ गया कि ये जो आपका केस था ना वो आज बोर्ड पर आया है आप जल्दी आ जाओ थोड़े पेपर्स देख लेंगे तो काम ख़त्म हो जाएगा तो आप जैसे ये फाइल ध्यान में आई तो आप समझ गए ओ इनको तो कभी सुधारणा दृष्टि से देखा ही नहीं था अभी ये प्रयोग करेंगे इनके ऊपर ये आज्ञा धर्म का प्रयोग करेंगे तो आप व्यवहार दृष्टि से वो जिनके साथ झगड़ा है वो देखेंगे निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा देखेंगे अभी वकील है उनको भी दो दृष्टि से देखेंगे जिनके साथ झगड़ा है उनको दो दृष्टि से देख लिया जो वकील साहब थे उनको दो दृष्टि से देख लिया उनके साथ जो भी लोग सब जुड़े हुए थे सबको ये दो दृष्टि से आपने देखा जरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा दो दृष्टि से आपने देखा और आपने क्या तय किया वो जो भी मेरा हिसाब था वो व्यवस्थित के हिसाब से मेरे पास आया मुझे क्या करना है मुझे समभाव से निपटारा करना है ऐसा आप तय करते हैं ठीक है आप तय करते हैं और फिर बहन जी को बोलते हैं कि जरा वो कोर्ट की बात आ गई है जरा जल्दी करिए मुझे जल्दी जाना है तो वे भी समझ जाते हैं कि चलो जल्दी जल्दी वैसे तो उनका वो खाने का वो तैयारी करते हैं वो तैयारी में ही लगे रहते हैं अब बोले कि आप तैयार होके आइए आप पेपर लेके तैयार होके नीचे आए टेबल पर बैठे थे और राह देखते थे कि अभी वो खाना दे परोसे और अब खा ले आखिर में वो पतीला उठाने गए और पतीला हाथ में से छटक गया और गिर गया सब्जी हो गई उल्टी हो गई अब वो किसने किया व्यवस्थित नहीं किया उनको नहीं बोलना है आपको बोलना पड़ता है चलो ये व्यवस्थित नहीं तो आज हम क्या समझेंगे ये खाने की जो फाइल है आज जो जाना था वो खाने में आज हमें ये नहीं है सब्जी मिलने वाली नहीं है तो हम क्या कहेंगे आचार है रोटी बनाई है दे दो हम रोटी आचार खा के चले जाएंगे संभव से निपटारा करना है ना लेकिन आपका दिमाग हिला नहीं क्योंकि वो ऐसा करेंगे ही नहीं वरना तो बोलते थे बाहर खा लेना शुरुआत में कोई तैयारी नहीं करते तो उन्होंने ऐसा किया आप समझिए कि ये मेरे व्यवस्थित में ऐसा था अब ये सब पेपर लेके आप गए वकील साहब के पास थोड़ी बातचीत की उनके साथ कोर्ट में जज साहब में शुद्धात्मा देखा वकील में शुद्धात्मा देखा जिनके साथ हम लड़ रहे थे उनमें शुद्धात्मा देखा बोला दादा अभी ये सबका संभाव से निपटारा करना है छूट जाए जो भी है समाधान से मुक्त होना है तो इससे क्या होता है ये सभी के मन में ऐसा परिवर्तन आ जाता है वो कुछ बात पकड़ के रखना चाहते हैं फिर भी वो पता नहीं चलता है कि बोलो चलो चलेगा करके और केस का समाधान हो जाता है और वापस जब घर जाते हैं तो घर पर पता चलता है कि उन्होंने पूरा खाना बनाया वैसे शाम को तो एक सब्जी रोटी वगैरह बनाते हैं बोले नहीं आज सुबह से आप खाना खा, खाए बगैर गए थे तो पूरा खाना बनाया सब आनंद से रह के खाना खा के सो गए अभी एक उसके साथ साथ एक उदाहरण ऐसा लेंगे कि जिनके पास ये दृष्टि नहीं है वो क्या करते हैं जब भी सुबह में फ़ोन आ गया कि वकील साहब बुलाते ये वकील साहब भी ऐसे है ना ये टाइम कुछ देखते नहीं है तो बोले ये सब पेपर लेके आ जाना अभी कहाँ से ढूंढूँ ये सब पेपर कुछ पेपर लेते हैं कुछ पेपर रह जाते हैं पतीला उल्टा होता है आपको तो कुछ रहने को आता ही नहीं है खाना पकाने को ही आता नहीं है तो ये जो भाव होता है ये जो व्यवहार होता है ये भी परेशान हो जाते हैं कुछ मुझे चलो कुछ नहीं खाना है करके कुछ पेपर छोड़ जाते हैं ऐसे ही चले जाते हैं ये जो मन से हम विचलित होते हैं वो वकील साहब कुछ बोलते हैं हमें समझ में आता नहीं है वो उनके साथ झगड़ा उनके साथ झगड़ा ये मेरा वैसे वैसे करके ऐसे भाव से ठीक तरह से बोल नहीं पाते और सब के बिगड़ जाता है जब वापस घर पर आते हैं तो घर पर अंधेरा बच्चा दरवाज़ा खोलता है पापा आज सुबह में आपने बताया था ना कि मम्मी आप में कुछ है नहीं कुछ ऐसा ठीक नहीं है तो वो अपने मैके चली गई मम्मी के घर चली गई और बच्चे तो बोले हमने भी अभी खाना नहीं खाया देरी से आए तो ऐसा यानी जहाँ ऐसी दृष्टि है शुद्धात्मा दृष्टि है समभाव से निपटारा करने का ये जो भाव है आज्ञा है उसे कैसा हमारा जीवन सहजता से उसका समाधान होता है ठीक है तो ये चौथी आ गया जब ये सभी फाइल का संभव से निपटारा हो जाता है हमारी पूरी मुक्ति हो जाती है आज मुक्ति शुरू हो गई अभी अंदर से ये स्वाद आता रहेगा और ये जैसे जैसे संभव से निपटारा करते हैं सभी फाइल का निपटारा हो जाता है हमारी पूरी मुक्ति हो जाती है अभी ये पांचवी आ गया शुद्धात्मा के खाते में वही खाते में रकम जमा करे बोलिए शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करे अभी शुद्धात्मा का वही खाता सुना था कभी वो अकाउंट का वही खाता होता है आप लोग लिखते हैं ना एक बाजू जमा एक बाजू उधार करके क्रेडिट डेबिट अकाउंटिंग करते हैं ना धंधे का वगैरह तो ये शुद्धात्मा का खाता क्या है तो ये जीवन का खाता जो है यानी ये नामधारी का खाता जमा उधार वाला है शुद्धात्मा का खाते में उधार है ही नहीं वो केवल जमा ही है तो जैसे यहाँ से लोग गुजर जाते हैं तो हमारे साथ क्या आता है अगर गुजर जाते हैं तो लोगों के साथ जो हमने राग द्वेष किए हैं वो हमारे साथ आते हैं हमने अगर यहाँ कुछ कमाया है वो हमारे साथ आता नहीं है बिल्कुल कुछ आता नहीं है लेकिन ये जो लोगों से झगड़ा किया ना वो सब हमारे साथ आता है वो इसी तरह से सब इकट्ठा हुआ लेकिन आज ये ज्ञान मिलने से सब पाप कर्म भस्मीभूत हो गए कुछ ही बाकी है उसका ये समभाव से निपटारा करेंगे तो शुद्धात्मा के खाते में जमा होता है तो पहली चार आज्ञा से शुद्धात्मा के खाते में जमा होता है ये सत्संग में आते हैं तो शुद्धात्मा के खाते में जमा होता है दादाजी के दर्शन करते हैं वहाँ मेगा बोनस लगता है क्योंकि उनके पास स्पष्ट अनुभव है उनके दर्शन करने से बहुत सारा शुद्धात्मा के खाते में जमा हो जाता है फिर एक अक्रम विज्ञान करके मासिक आता है उसके आप मेंबर हो जाना ये पूरा ज्ञान के लिए आपने क्या दिया ज्ञान मिलने के लिए कुछ दिया आपने फिर भी मिल गया ना तो हकीकत में जहाँ सही ज्ञान है सही चीज़ें उसके लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ता लेकिन ये तो एक व्यवहार व्यवस्था है क्योंकि हर महीने को ये मिलना चाहिए इसीलिए बहुत कम दाम का है लेकिन दादाजी की ताज़ा बानी जो जो ऐसे सत्संग में होती है उसको स्क्रिप्ट करके हमें मिलती रहती है क्योंकि आप हर जगह पर दादाजी हैं वहाँ आ नहीं पाएंगे तो यहाँ पर बैठे बैठे आपको सत्संग मिलता रहेगा तो वो शुद्धात्मा के खाते में जमा होता है कविराज के भजन है पद है उनको आप सुने तो वही उसे हमारा ज्ञान समझ पक्की होती जाती है तो वो शुद्धात्मा के खाते में जमा होता है अब आपको ये किताब दी है वो ज़रा देखिएगा नहीं आप लिख दीजिए तैतीसवां पन्ना निकालिए इधर लिखा है तैतीसवा पन्ना सबने निकाला तैतीसवां पन्ना निकाला सबने तैतीसवां पन्ना निकाला थर्टी थ्री पन्ना नंबर तैतीस यहाँ पर लिखा है ज्ञान साक्षात्कार प्राप्त महात्माओं के लिए निश्चय व्यवहार चरण विधि हकीकत में शुरुआत में दादाजी के चरण पर आपने जो मस्तक रखकर जो किया उसी को चरण विधि कहते हैं उसी को चरण विधि कहते हैं अभी अभी हमने ये ज्ञान पाया है यानी निश्चय प्राप्त हुआ है और नामधारी वो व्यवहार है व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि का बंटवारा हो गया ना आज तो ये व्यवहार से नामधारी को पढ़ने के लिए कहा है और इधर लिखा है प्रतिदिन एक बार अवश्य पढ़े ये जो हमें ज्ञान विधि बुलवाई दादाजी ने वो इसमें है और और कुछ प्रार्थनाएं भी है तो ये बोलने से क्या होता है कि आपको ये हर रोज़ का खुराक मिल जाता है ताकि ये जो अलग किया है वो अलग ही रहेगा और आपका अनुभव बढ़ते जाएगा वो हम थोड़ा पढ़ के देखते हैं कैसे पढ़ना है मैं बोलूं पीछे पीछे बोलिएगा दादा भगवान को त्रिकाल नमस्कार देखो, देखो नमस्कार, आप सब लोग नमस्कार शांति शांति आप जो अभी बोलते हो खुद तो खुद का बोला सुनो ये शुद्धात्मा पढ़ता है और कौन पढ़ता है बोलो अरे व्यवहार कौन सा व्यवहार बोलते हैं બોલને શુદ્ધાત્મા पड़ता है પણ બોલने कौन व्यवहार तो ऐसा क्या इतना भी गल, गलती हो गई आनंद बैठता है ऐसा बोलने में क्या जाता है हर्ज क्या होता है सिखाना भाई सिखाना तो सीखेगा उनसे हाँ अरे ये है तो पर इतना ज़्यादा मत सिखाना तो तेरे को ऊपर हो जाए मैं सिखाती हूँ <laughs> ये तो आप लेडीज़ लोग तो ऐसे ही बोलेंगे हम सीखते हैं हाँ यही आनंद पड़ता है और आंगन का पड़ा हुआ जो बोल से बोलते पड़ता है ना वो आप सुनता है आपको इतना काम करो इसीलिए आनंद का ये आंखें हैं ना उसके ज्ञान आवरण है दर्शन आवरण है सारे विघ्न भी सब ये सब कम होते जाएंगे और व्यवहार दृष्टि सही रहेगी हाँ व्यवहार दृष्टि और बोलेंगे आप कि व्यवहार दृष्टि से ये मेरी धर्म पत्नी है क्या बोलेंगे धर्म पत्नी क्या और निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्मा है किसी हस्बैंड ने वाइफ को शुद्धात्मा दृष्टि से देखा कभी भी शास्त्र बहुत आ गए लेकिन समझ नहीं आएंगे आपको हाँ वो समय कैसे और आपके लिए वो आनंद नि, निश्चय दृष्टि से आनंद है ठीक है ना और व्यवहार दृष्टि से शुद्ध बोल रहे हैं गुरु जी गुरु जी गलती होगी तो ये क्या करेंगे बोल बोल जल्दी बोल पति देव बोलो हाँ नाम तो बोला नहीं जाता ना अच्छा ठीक है ठीक है समझ गए ना हुआ ही नहीं कभी हम शुद्धात्मा दृष्टि अपनी पत्नी को बोले कैसा बना मेरी वाइफ अरे क्या वाइफ वो वाइफ बोलते मेरे हस्बैंड अरे એ ગલતી એ ક્યાં કરી દો આ લોકો એ છોકરી लोग समझते ना हाँ? हाँ चलो आगे जो पढ़ते हैं हे प्रयोग भी दिखाते हैं कैसा करना हे निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी त्रैलोक्य प्रकाशक शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वरूप परम ज्योति सुखधाम ऐसे हे वितरागी परमात्मा मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा हूँ मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा हूँ मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा हूँ वो तीन बार लिखा है ना तो वो तीन बार बोलना है उसी तरह के पीछे लंबा सेंटेंस हो तो आखिर का वर्ड बोल रहे तीन दफे करो देखो निकालो सब आगे ऐसे आप पढ़ते जाएंगे देखो पाँच दस पाना होगा हम्म। उनचासवा पन्ना निकालिए फोर्टी एट अड़तालीसवा पन्ना सबने निकाला हम्म, चलो मैं कहीं दखल विक्षेप न करूं ऐसी मुझे शक्ति दे ऐसे वो तीन बार बोलना है केवल शुद्ध केवल देखभाल करने की मुझे शक्ति दे मैं केवल एक आप ही की आपकी ही कृपा का अभिलाषी हूँ आपके चरणारविंद मेरे हृदय में संस्थापित हो मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसे 25 बार बोलना है मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ ये पंद्रह से बीस मिनट ही लगेगी ये आपको हर रोज एक बार पढ़ लेना कभी भी अभी सानो शांति से आज ये कृपा से आपको प्राप्त हुआ है मैंने कुछ किया नहीं है आपका पुण्य का योग था मेरा अनुभव वो अनुभव का आपको लाभ मिला और आपको कृपा उतरी ये कलयुग में कृपा साध्य है केवल कृपा साध्य है साधन काम नहीं देते कलयुग है इसीलिए और वैसे भी साधन सीमा वाले होते हैं सब सीमा वाले लिमिट वाले होते हैं कृपा असीमित होती है मुख्य कृपा समझ गए तो अभी आपके हाथ में ये दे दिया आपका खजाना खुला किया और आपके हाथ में उसको खुला होने देना है सारा व्यवहार से निकल के तो व्यवहार में निकलना ये सब रीत बता दे करते रहना और दूसरा पुस्तक दिया है पांच आज्ञा के समझ वाला हाँ वो अंदर अंदर है आपके वो बैग में निकालो निकालो वो हिंदी वाला ही है तू बच्ची तो इंग्लिश वाला तेरा पुस्तक उनसे मार्क करवा ले तुम लोग हाँ जे यंग छोक छोकरे लोग है सब करवा लेना वो पांच आज्ञा समझ दी ना तो पर देख लेना हाँ वो विगत है सब सब विगत है चलो हो गया हो गया सबको बोलो अरे बोलो हाँ समझ में हो गया बोलो तो बोलो कि निश्चय दृष्टि से मैं नामदारी हूँ बोलो और व्यवहार दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये परीक्षा गलत गलत हुई कि अरे अरे मैं ही गलत करूँ तो तुम क्यों गलती करते हो अरे तब तो लोग छोकरी गलती नहीं की ना तुम हाँ, तो मुझे सुधार सुधार होने का मुझे मुक्किला ऐसा एक दूसरे को सुधारना है समझे ना व्यवहार को कभी निश्चय नहीं करना और निश्चय को कभी व्यवहार नहीं करना जो बाहर वाणी से व्यवहार में बोला जाता है और व्यवहार किया जाता है वो अंदर समझना नहीं है और अंदर जो हम है वो समझ लिया है वो बाहर व्यवहार में नहीं लाना है व्यवहार को अंदर नहीं जाने देना और निश्चय को बाहर नहीं आने देना ऐसा सावधानी से घर की आश्रम के अंदर रहना है उपाश्रय के अंदर क्या घर का उपाश्रय आपका घर उपाश्रय है क्या घर है बोल नहीं उपाश्रय है तो शुद्धात्मा तो नहीं तो क्या करेगा हाँ वो तो उन लोगों को तो अपने व्यवस्था की है <laughs> वो तो होनी है वो व्यवहार है ना वो तो व्यवहार तो व्यवहार ही हमें व्यवहार हमेशा था है और हमेशा रहेगा बिना व्यवहार है तो कुछ निश्चय है ऐसा हमें ख्याल मालूम पड़ रहा है लेकिन नहीं निश्चय की बिना हाजिरी वाला व्यवहार क्या है वो क्या है अंधा है पीछे कितना धर्मशास्त्र पंडित कोई भी हो अंधा है क्या और निश, बिना निश्चय व्यवहार अंधा है और बिना व्यवहार निश्चय लंग लंग क्या लूला लूला, है नहीं समझ गया अभी समझ गया कि नहीं तो दोनों साथ में है निश्चय व्यवहार एक सिक्का की दो पहलू समझे कि नहीं हाँ व्यवहार वो पानी वाला है हमने दूध माना था और दूध दूध है वो हमने वो पानी माल के वो दूध का लाभ भी घुमा दिया था हंसते क्यों है <laughs> अभी समझ गए समझ गए आज राज का एक आपको आसान रास्ता दिखा देते हैं क्योंकि हम तो <clears throat> अभी निकल जाएंगे ये सब रहने वाले हैं दूसरे बैठे थे तो वही रहने वाले और तीसरे दिन रहेंगे कल पूरा दिन होल डे तो आप आना आज रात्रि को जो मैं आज भी समझाता हूँ ऐसा अनुभव हो जाएगा पर पक्का ऑटोमेटिक तो होना ही वाला अभी शुरू हो गया है लेकिन एक आसान रीत बता देता हूँ कि रात आपका सोने के टाइम बेड में सो जाओ हूँ हम्म, चलो सब अपने अपने में तो सोते बोलो मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ हम खुद अपना बोला हो हम सुन सके इस ढंग से बोलना किसी को हरकत ना आवे ऐसा हुँ? हम्म? तो ऐसा बोलते जाओ बोलते बोलते ओ आनंद को आपो आप निंद्रा आ जाएगी क्योंकि आनंद निंद्रा आनंद का गुण है शुद्धात्मा का नहीं है आ जाएगी और मैं शुद्धात्मा हूँ निंद्रा के कार दरमियान चालू रहेगा चालू रहेगा सुबह आनंद जागृत हुआ तो पहला क्या हाजिर रहेगा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और पीछे और भी आनंद था चलो ऐसा समझ गए ना तो उसका क्या प्रतीति एस्टाब्लिश हो गई प्रतीति प्रतीति किसको बोलते हैं एक दफे एक दशा हुए तो कायम की है उसको हाँ? आपके जैन शास्त्र में तो उसको क्षायक बताया है लेकिन अब बाहर कोई बोलेंगे तो मानेंगे नहीं इसलिए आपके अंदर ही रखना समझ लेना आप खुद समझे ना और प्रज्ञा शक, प्रज्ञा शक्ति खुली होती जाएंगी प्रतीति होते ही प्रज्ञा शक्ति खुली होती है शुद्धात्मा की उसको ज्ञायक शक्ति बोलते हैं जानने वाली देखने वाली शक्ति ज्ञान प्रकाश देखना प्रकाश से हमेशा काम करती रहती है आनंद के साथ करती रहेगी जैसे सबके साथ करेंगे समझेगा नहीं और वो शक्ति से आपका व्यवहार चला जाएगा पांच आज्ञा के अनुसार हुँ? हम्म? तो अभी आप आपका मन आपका ज्ञे हो गया क्या बोलो मन का स्वभाव क्या है वो उकलना वो आखिरी फिल्म अगले अवतार की हो गई है वो अनवाइंड होती है वीडियो उतरी थी वो सारी वीडियो उतरती है कि उसके लिए हमको खुद को देखने के लिए अपनी फिल्म क्या पहले दूसरों की फिल्म पढ़ते थे अभी खुद की फिल्म देखो कुछ समझ में आता है हाँ अरे मेरी फिल्म क्यों उतारता है ऐसा बोलता है ना व्यवहार में आप लोग नहीं बोलते होंगे नहीं कोई छोकरी समझती नहीं है फिल्म बोलते हैं कि नहीं ए बोलते हैं लेकिन हमें खुद की तेरे को देखनी पड़ेगी तेरी उतरी गई है ये पड़ी समझी कि नहीं वो मन की है मन में सूरी और ऐसी वाचा में आती है और व्यवहार में आती है तो मन ग्रे हुआ वो विचार तो ऐसा उकलता ही जाता है एग्जॉस्ट होता जाए खाली होता है वो बता दृश्य दृश्य और ग्ने हो गया हम उसके प्रज्ञा के प्रकाश से ज्ञाता दृष्टा रहे ये सब हाँ ये सब पुरुषार्थ होगा बिना पुरुषार्थ हुए पुरुषार्थ नहीं होता क्या और जो पुरुषार्थ मानते हैं वो भ्रांत पुरुषार्थ है फिर भी वो तो चलता है व्यवहार में चलता है समझे न तो कृष्ण भगवान ने यही बताया हम्म, पुरुष पुरुष हुए बिना नहीं पुरुषार्थ होता हुँ? हम्म, तो तेरी शक्ति कितनी है बोल मोटे से जल्दी बोल तू कितनी शक, कितनी शक्ति वाली हो बोल जल्दी मैं बोल बोलने मोटे से मैं संभरा था ना बोलने वाली हूँ तो बोल तो खाली पुरुष <laughs> ये गड़बड़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए हाँ नहीं तो ऐसा हो जाएगा उल्टा सुलटा हो जाएगा करो रात्रि को सोने के टाइम मैंने प्रयोग बताया इस आसान प्रयोग है क्योंकि हम तो कल जाएंगे व्यवहार से थोड़ा और पीछे परसों निकल जाएंगे ये भी निकल जाएंगे कल सारा दिन है आप आपका अनुभव जैसा सुबह हुआ है ना आपका अनुभव खुला हो जाएगा स्वाद आएगा पीछे आहिस्ते आहिस्ते वो बढ़ता जाएगा और आप आनंद बढ़ता जाएगा ज्ञान प्रकाश बढ़ता जाएगा दर्शन प्रकाश बढ़ता जाएगा ऐसा ऐसा आनंद बढ़ता जाएगा हाँ? ज्ञान ज्ञान प्रकाश दर्शन प्रकाश वो सत्य स्वरूप होता है ना उससे चित्त ऐसा कॉन्शियसनेस अपनी ऐसी ऐसी बनती रहती है शुद्धात्मा की जो आनंद की थी वो तो विनाशी है वो बनती रहे और उसका स्वरूप आनंद है आनंद कहीं बाहर से कहाँ नहीं आता आनंद आपका स्वभाव है शुद्ध आत्मा का समझे ऐसी है और दो दृष्टि जैसे सही रहेगी तो आपको उस परम भी नहीं खुला होता जाएगा आपसे किसी को दुख न पहुँचेगा ये कहो हाँ ये अंदर समझने की बात है जो समझने की बातें बाहर व्यवहार में नहीं होती और व्यवहार व्यवहार में बातें वो अभी हमें समझनी नहीं हमें એટલે આપકો જ્ઞાન પાહૈ એસીલી આપકો બુલતે હૈ સમજે ને બાકી સબ કે સાથ રહેંગે આપ પ્રેમ સે સમજે ચાલો તો આજ આપકે પતંગા આજ તક કટી હુઈ પતંગ થી જન્મ જન્માંતર સે કહા કહા ગીરતી થી કહા જન્મ આયગા કહા કોઈ માલૂમ નહીં થા આજ આપકે બાસ મે રસી પતંગા કે આ કઈ शुद्ध आत्मा के प्रकाश से हुँ? और रस्सी आ गई पतंग का कोई कर्म का उदय आया ना तो ऐसी ऐसी होती थी देखी ओ ये आनंद की पतंग ऐसी होती है तो मैं देखी उन्होंने देखते ही वो परिस्थिति हो जाएगी शुद्ध आत्मा आप रहेंगे समझे ना तो ऐसा उसका सही उपयोग करना अभी आप सबकी हम रजा लेके हमें जाना पड़ेगा सब रजा है सबकी आपका पुत्र आपके साथ रहते हैं हाँ बोल के ही रहूँ अब कल आपका अनुभव हो लेके यहाँ जो है सब यहाँ आ जाए मेरे ख्याल से जगह कल है ना हाँ तो आप आओ अपने सुबह अनुभव बताओ और साहब खुद ये नवीन आनंद जी आपको बोला ये विधि उसका प्रयोग करवाएंगे और रखो तो इसका कल का लाभ ले लो दूसरा दिन है आज तो अमावस्या निकल गई आज ये शुक्ल पक्ष का पहला दिन है क्या क्या बताया हाँ चंद्रमा का वो तो दिखाई नहीं देता अरे दूसरा भी कहाँ दिखाई देता है तो कल दूसरा चांद बीच का चांद हो जाएगा हुँ? हम्म? तो वो शिव के भाल शिव जी के भाल पर है ना ऐसा ओम कारम बिंदु नई संयुक्तम बोलो ओम कारम बिंदु नित्यम योगी न कामदम मोक्षदम चैव कामदम ऐसा व्यवहार रिलेटिव व्यू पॉइंट मोक्ष मोक्षदम चैन निश्चय शुद्ध आत्मा व्यू पॉइंट ओमकाराय नमो नमः तो सारा योगी लोग ओमकार का ध्यान करेंगे आप लोग उनके ध्यान में आएंगे सब उनको मालूम नहीं है इसकी आपकी जिम्मेदारी आई समझ में आया सबको बरोबर पक्का बीच का ज्ञान कर वो पीछे प्रकाश बढ़ता जाएगा आपका बताया ना वो केवल ज्ञान का प्रकाश आता है पूर्णिमा हो गई तो एब्सोल्यूट ज्ञान हो गया खुल्लो हो गया चलो सच्चिदानंद जय सत आनंद यहाँ भोजन आज, की व्यवस्था आज हमने आज आप लोग का मेरे पर जो लेना था लेना क्यों क्या बोलते हैं आपकी भाषा में बोलो ने हाँ? हाँ? लेनदारी थी तो मैंने दे दी आपको हाँ मैं मुक्त हो गया लेकिन आप मुझसे बंधा गए पांच आज्ञा से अगर पांच आज्ञा पालेंगे तो मैं आपसे बंधाया हुआ हूँ पांच आज्ञा में चुकी गई तो आपने मुझे छोड़ देंगे तो पीछे आपकी जवाबदारी पर आ जाएगी समझ गए हाँ उल्टा सुल्टा नहीं समझाते ना मैं ચાલો જઈશ બચ્ચા ઓય સમજ લો બરોબર હા બડી सबको भोजन लेके ही जाना है यहाँ पूरी सुविधा व्यवस्था की गई है जय सच्चिदानंद और कल सुबह साढ़े नौ बजे सबको आना है ह- हेलो जय सच्चिदानंद साढ़े नौ बजे यहाँ दोबारा हम मिलेंगे जय सच्चिदानंद